someone who loves Bye. Mm-hmm. take the end of all time. गया मैं आ रहा हूँ एली बच गया यहाँ इतना अंधेरा क्यों है भाई एली कहा हो छोड़ो मैं कहा हूँ बच्चे ने सिर्फ छोटी सी लात मारी है ओह हाँ हाँ वाव हाँ तुमने तो डैडी को डरा ही दिया था डैडी भी उल्लू है ना डैडी पहाड़ से नीचे गिरे और भड़म भड़म भूम भड़म पागल डैडी है हाँ। हाँ, सॉरी दोस्तों गलत सिग्नल बेबी ने पेट में एक लात मार के सिर्फ शरारत की मन तो करता मैं भी तुम्हें एक लात मारूं। हफ्ते में तीन तीन बार सिग्नल देते हो तुम ठीक है खेल खत्म पैसा हजम चलो यहाँ से ओह लगता है आपका पेट भी कुछ इशारा दिखा रहा है मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है आओ, पता है पर उम्मीद पे तो दुनिया कायम है आओ मैनी मैं जानती हूँ तुम बहुत खुश हो मैं भी हूँ पर तुम ये थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो ठीक है होता है पहली बार बाप बन रहा हो ना वैसे तुम बिल्कुल डिएगो की तरह बोल रही हो जरा रुको तो डिएगो कहा है Ah! का घर का ना खाट का <laughs> क्या बात है आज हमारा बब्बर शेर भीगी बिल्ली बन गया अच्छे अच्छे को मैंने धूल चटा दी है <laughs> आप ओह आप मुझे देखने दो ना आराम से बेबी को कुछ मत होने देना बेबी तो ठीक है मुझे तो उसके डैडी की ज्यादा फिक्र हो रही है आ, आ, आ, झांकना नहीं पेश है छुटकू के लिए खेल का मैदान ओह वाह ये तो बहुत खूबसूरत है मैंने इसे खुद बनाया है हमारे परिवार के लिए ए, मेरा पुतला क्यों नहीं है हमारे वाले में हो सकते हो हम एड़ो के परिवार में आ सकते हो शुक्रिया हाँ वैसे अभी भी हल्का पुल्का काम बाकी है यहाँ वहाँ कुछ चीजें ठीक करनी है यकीन नहीं होता तुम बेबी को कुदरत से सुरक्षित रखना चाहते हो कुदरत से सुरक्षा क्या बात कर रही हो <laughs> तुम भी हद करती हो मैनी हमारा बेबी इसी जगह में बड़ा होने वाला है तुम इसे बदल नहीं सकते बिल्कुल बदल सकता हूँ मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव हूँ ठीक है छुटकू के डैडी तुम अपने बच्चे को कैसे संभालोगे ये देखना है अब चलो सिड यहाँ किसी भी चीज को मत छूना ये जगह बच्चों के लिए है तुम बच्चे हो क्या आ... जवाब मत देना डिएगो तुम कहाँ थे यार तुम्हें एक बढ़िया जगह दिखानी थी ओ हाँ ठीक है मैं उसे बाद में देख लूंगा लेकिन याद रखना लगता है डिएगो को कोई बात परेशान कर रही है उसे कुछ नहीं हुआ सब ठीक है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए मर्द मर्दों के सामने औरतों की तरह रोना धोना नहीं करते बस कंधे पर हाथ मार देते हैं बच्चों जैसी हरकत है एक औरत के लिए एक मर्द के लिए नहीं ये अंदर की बात होती है अच्छा बाबा ठीक है ठीक है मैं जा रहा हूँ Hey! Ow! धक्का क्यों मार रहे हो मर्द तो यही करते हैं ना अच्छा सुनो एली को लगता है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है मैंने उससे कहा दरअसल मैं सोच रहा था कि बहुत जल्दी यहाँ से निकलकर अपना अलग रास्ता चुनना होगा ठीक है तो आ, मैं उसे कह देता हूँ कि सब कुछ ठीक है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है देखो तुम अच्छी तरह जानते हो मैनी मैं कमजोर पड़ रहा हूँ मैं बच्चे संभालने या उनके साथ खेलने के लिए नहीं बना हूँ क्या बकरा हो डिएगो एक परिवार होना बहुत बड़ी बात है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश भी हूँ पर यह तुम्हारी जिंदगी है मेरी नहीं तो तुम मेरे बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहते नहीं नहीं नहीं तुम तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार नहीं नहीं जाओ जाकर अपने लिए जिंदगी में रोमांच ढूंढो मिस्टर रोमांचक लाल मैं नहीं चाहता कि मेरी घीसी पीटी थकी पकी जिंदगी तुम्हें भी अपने चपेट में ले ले ऐसी जज्बाती और फिल्मी बातें तो औरतें क्या करती हैं मैनी मैनी रुको कोई कहीं नहीं जाएगा कुछ कहा उसने मैंने कहा था ना मर्द ज्यादा भावुक नहीं होते क्यों क्या हो गया डिएगो जा रहा है वो वो वो ये हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया पल है हमें बेबी होने वाला है नहीं सेठ उन्हें बेबी होने वाला है हाँ पर हम एक झुंड है परिवार है देखो चीजें बदल गई हैं मैंने का ध्यान अब कहीं और है और सच कहूं सेठ हमने अब तक बहुत अच्छा वक्त बिताया पर अब अलग होने का टाइम आ गया है मतलब अब सिर्फ हम दोनों ही हैं नहीं सिड अब हम दोनों नहीं हैं क्रैश और एडी भी साथ चल रहे हैं सिर्फ क्रैश सिर्फ एडी बाय सिड से आराम से मैं दोस्त बनाने में मशहूर हूँ मैं खुद का एक परिवार बनाऊंगा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा मिल गया क्यों दोस्त लो की हाल है चलो कम से कम तुम दिखने में तो चिकने हो ना हाय वाह कोई है यहाँ जो मेरे दिल की आवाज सुन सके ये किसके है ओ बेचारे मैं जानता हूँ अकेले रहने पर कैसा महसूस होता है अपने भाई का ठीक से ख्याल रखना मम्मी भाई को लेकर अभी वापस आती है मम्मी आ रही है बच्चा मम्मी ने तुम दोनों से क्या कहा thank you thank you thank you बुरा बच्चा गंदा बच्चा मम्मी को हार्ट अटैक आ जाता तो ओ oh, माफ करिए ना मेरे बच्चे असल में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ चलो अब तुम लोग अपने अंकल मैनी और आंटी एलिस से मिलो हेलो और ये है मेरे तीन अनमोल रतन एग्बर्ट शैली और योको सेड तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं सेड उन्हें वापस ले जाओ तुम बच्चों को पाल नहीं सकते क्यों नहीं पहली बात तुमने किसी और के अंडे चुराए दूसरी बात इनमें से एक ऑमलेट बनते बनते रह गया सेठ इनकी माँ को बहुत फिक्र हो रही होगी नहीं ये तीनों अकेले पड़े हुए थे बर्फ में अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो उनकी अन्ना कुल्फी बन जाती हाँ। सेठ मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है एक दिन तुम्हारा भी परिवार होगा यार एक दिन तुम भी किसी बढ़िया लड़की से मिलोगे जो बहुत ही गंदी बिना नहाए धोए और बदबू से भरी होगी नहीं नहीं मैंने के कहने का मतलब है नहीं कि... मैं समझ गया मैं उन्हें वापस ले जाता हूँ तुम अपने परिवार बढ़ाओ और मैं अकेले जिंदगी काट लूंगा किस्मत का मारा एक भटकता जिंदा लाश की तरह इस बर्फ में घूमता हुआ कोई नहीं मेरा कोई नहीं सहारा बहुत ज्यादा नौटंकी हो रही है दुनिया सेड रुको नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो वो वापस आ जाएगा ये सिड का इमोशनल अत्याचार है मैं तुम्हें वापस क्यों लौट दूं? मुझे बच्चे पसंद है मैं जिम्मेदार नरम दिल समझदार हूँ तुम्हें क्या लगता है हम्म, मैं जानता था तुम्हें मामा पसंद है रोना नहीं रोना नहीं मैं एक सूखी जगह ढूंढ लूंगा ठीक है हाँ, हाँ अब तुम्हें दाल सुखा देता हूँ अरे बाप रे बच्चे संभालना काफी मेहनत का काम है शायद मैं मां बने के लायक नहीं हूं मैया है आप देख लो बिल्कुल मम्मी के जैसे सॉरी आई एम सॉरी नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं रो मत तुम तुम अब क्यों रो रहे हो भूख लगी है शायद तुम भूखे हो मम्मी अभी खाना लेके आती है ठंडा हूँ झूला झू मैं आंखों का तारा हूँ तुम हो मम्मी मेरी और मैं दूध का प्यासा हाँ। मुझे लगा तुम भी मम्मी सॉरी पर तुम अंदर नहीं जा सकते मैंने ने कहा था ये बच्चों के लिए है एक मिनट रुको तुम भी तो बच्चे हो बस कुछ तोड़ना नहीं स्लॉट अंकल ने कहा कि प्लेग्राउंड खुल गया है नहीं रुको सबके लिए नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं उसे मत छूना बदमाशी मत करना मम्मी ये मुझे लकड़ी नहीं दे रहा है तुम अपने बच्चों को कुछ समझाओगे मेरे बच्चे ने उसे पहले देखा ये झूठ है सच है ये झूठ है सच है ये झूठ है झूठा झूठी बम्बल बूटी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मैं अकेले तीन बच्चों को संभालता हूँ कोई मेरा दर्द नहीं समझता है अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरा बच्चा ये अच्छा नहीं हुआ बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अपने बच्चों को हर चीज खाने नहीं देनी चाहिए तुम्हें लगता है मेरी एड़िया सूच गई है एड़िया कौन सी एड़िया रोनाल्ड तुम कहां से टपके ये क्या हो रहा है चलो ऐसे अच्छे बच्चे की तरह बाहर थूको अगर तीन कहने तक जाने को बाहर नहीं थूका तो हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे एक दो मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए तीन हाँ, हाँ, लो आ गया बाहर बिल्कुल सही सलामत ये चपटी चोच मेरा बच्चा नहीं है चलो जो मिला रख लो तुम जिंदा हो जल्दी करो उसे बाहर निकालो सीड ओह हाय मैनी मेरा बच्चा ए, रुको नहीं नहीं ओ ओ, ओ मुझे माफ कर दो इधर की तो वाट लग गई और वो वाट हमने नहीं लगाई तो क्या आजकल अपन वाकई वाट नहीं लगाते वैसे सबसे जरूरी बात है कि किसी को भी चोट नहीं लगी सिवाय उस हीरो को और और वो तीनों और इसे मैंने तुम्हें उन्हें वापस छोड़ाने के लिए कहा था पर तुमने ऐसा नहीं किया अब देखो उन्होंने क्या किया ठीक है मानता हूँ मैंने उन्हें जीने का तरीका नहीं सिखाया छोटे बच्चों को निकल जाना ये खाने का तरीका भी नहीं है पर उसने उसे बाहर थूक दिया वाह क्या बात है उसे इसके लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए बेबी नंबर वन उनकी जगह यहाँ नहीं है सिड वो जो कुछ भी है तुम्हें जहाँ से भी मिले हैं उन्हें वापस ले जाओ मैं नहीं मैं अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकता ओ डरो नहीं घबराओ नहीं मम्मी पास है ना भूकंप दहाड़ता भी है गुस्सा अभी तक लुप्त नहीं हुआ है चलो चलो चलो चलो चलो अंदर अंदर अंदर सहारे पता नहीं कहा बच्चे उसे दे दो वो उनकी माँ है मैं कैसे यकीन करूं कि ये की माँ है अब क्या उसका डीएनए चेक करवाएगा वो एक डायनासोर है उसने तो सिर्फ जन्म लिया है मैंने इन्हें सीने से लगाकर पाला है सिर्फ एक दिन के लिए वापस कर पागल देखो इन बच्चों पर मेरा हक है और तुम्हें उन्हें पाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा भागो मेरे भाई और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास सेठ जरूर वहाँ नीचे होगा वो तो गया सीधा ऊपर वो भी बिना टिकट ओ नहीं नहीं नहीं नहीं जा कहा रहे हो सुनो एली तुम इससे आगे नहीं आ सकती तुम क्रैश और एडी वापस घर लौट जाओ हाँ बिल्कुल ऐसा ही करूंगी एली तुमने उसे देखा ना वो बहुत खतरनाक है क्या कुछ कह रहे हो लो बहुत अच्छे पहले मैं सीट को बचाऊंगा फिर मैं खुद उसका टेंटवा दबाऊंगा पहले आप पहले सारे बुजुर्ग दर्द नहीं तो कुछ नहीं कैसा दर्द Sid! अरे बाप रे अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो भले ही वो कुछ भी ना हो तुम्हें मुझे बताना होगा और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे हाँ हाँ ठीक है ओ, हमें एक कोडवर्ड चाहिए हाँ जिसका मतलब हो आ, बेबी आ रहा है हम्म, जैसे कि बेबी आ रहा है ये चलेगा आ, बहुत लंबा है हमें कुछ छोटा और असरदार शब्द सोचना होगा जैसे आ, लीची लीची मुझे लीची बहुत पसंद है वो खट्टे मीठे और गोल होते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह तो मैं तुम्हें गोल लगती हूँ हाँ? गोल अच्छा होता है यानी कि गोल मटोल पास ही रहना तरह खुली आंखों से सपना देख रहे हो यहाँ तो डायनासोर की पूरी दुनिया बसी हुई है और हमें पता भी नहीं चला आपके सामने मैं कितना छोटा लग रहा हूँ तो मुझे कैसा लग रहा होगा Kommt, ihr यार तुम तो बोले तो झकास हो काश मेरा भाई भी तुम्हारी तरह होता मेरा भी हम इसे साथ ले चले बक क्या नाम है बक बक मिंस्टर का छोटा नाम और बड़ा नाम है बा बस दिखता है बिकता नहीं है तुम इधर काय को आयला हमारे दोस्त को डायनासोर उठा ले गया अच्छा समझ लो मर गया ये अब उनकी दुनिया लल्लू अब घर जाओ चलो कल्टी मारो बिना सिटके तो नहीं एली रुको शायद इस सुकड़ू कानिया की बात में कुछ दम है मैनी हम यहाँ तक आ गए हैं उसे ढूंढ कर रहेंगे पैरों के निशान भी हैं चलो देखते हैं अगर तुम उधर गए तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लुड़का हुआ मिलेगा ये आपको कैसे पता है महान और चालाक वीजल जनाब हम्म, मम्मी डायनासोर जिसके पास तीन बच्चे हैं और एक बासी हरा भरा कबाब हाँ वो बासी हरा भरा कबाब हमारा दोस्त है और तुम्हें पैरों के निशान से ये सब पता चला नहीं ऐसा नहीं है अब उन्हें पहले उन्हें देखा था ना वो लावा वाले झरने पर गई होगी उधर ही अपना बच्चा पार्टी बड़ा करती है उधर पहुंचने के वास्ते तुम्हें तकलीफ वाले जंगल से गुजरना होगा और मौत की खाई से जाना होगा जहां मुसीबत भरेली है शुक्रिया ऐसी डरावनी जगहों के नाम सुनाकर तुमने हमारा हौसला बढ़ाया अब हम जा सकते हैं वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाओ तुम क्या सोचते हो तु, तु, तु, चटपटा खाना लेकर पिकनिक पर जा रहा है अबे तुम बचा नहीं सकते अपने दोस्त को है ना दोस्त तुम अपने इस, इस बेकार दांत से क्या उखाड़ लेगा जब तुम्हारे सामने होएगा खूंखार राक्षस अपूर्ण उसका नाम रखेला है रूडी अच्छा है बहुत अच्छा मुझे तो लगा उसका कोई डरावना सा नाम होगा जैसे मुगेम्बो या शाकाल रुको तुम्हारा मतलब वह मम्मी डायनासोर से भी कुछ बड़ा है आंख आए हाँ आंख वही चापुन को ये दिया है वो उसने तुम्हें वो पट्टा दिया वो भी फ्री क्या कूल है बिड़ू हाँ, हो सकता है वो हमें भी दे दे मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है कोई उम्मीद मत रखना जाते ही वाट लगेगी ठीक है हम समझ गए सही नाम रखा है इसका Bugbird, Bugbird, Bugbird, Bugbird. Ah! मुझे तो ये तकलीफ वाला जंगल लगता है रुक जाओ क्यों क्या हुआ लीची क्या ऐसी बात नहीं बस मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है तुम्हें भूख लगी है ब्लड शुगर लो हो जाएगा हम्म। वहाँ एक फल है रुको मैनी मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता तुम इस जगह को नहीं जानते मैनी <laughs> जैसे कि ये फूल पौधे मेरी जान लेने वाले हैं शायद उसने तुम्हारी बात सुन ली एक बात कहूँ हर जगह सूर नहीं घुसानी चाहिए हमारे यारों को खाना बंद कर पौधे हाँ! गया मैं इसको जड़ से उखाड़ दूंगी हाँ उखाड़ो फिर ये कभी नहीं खुलेगा क्या अबे मोटी तू पेट से है पेट को संभाल के रख आप उन्हें हजम होने से पहले ही निकाल लेगा तीन मिनट में ये मांस कम हड्डी ज्यादा होगा वैसे मोटे वाले को पाँच मिनट लग सकता है मैं मोटा नहीं हूँ मुझे कुछ हो रहा है मैं हाथी हूँ कोई शेर नहीं कि तुम्हें कुछ हो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मुझे भी कुछ हो रहा है बचाओ अब अपन दिखाएगा पक्का जलवा खुद को बहुत पतला समझते हो आज मालूम पड़ा पौधे उल्टी करते हैं ऐसे में क्या कहते हैं मैं हमें बचाने के लिए शुक्रिया सुनो बक उस हरे भरे कबाब को ढूंढने में मदद करोगे इसकी जरूरत नहीं है हाँ जरूरत है हम्म। हाँ तो ठीक है अब उन मदद करेगा पर अब उनके कुछ रूल्स हैं रूल नंबर वन हमेशा बक की सुनने का रूल नंबर टू हमेशा लाइन के बीच रहने का Rule number three जो बात बात पे कैसे छोड़ता है वो सबसे पीछे चलेगा चलो हिलो आप, उनके पीछे इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार बैल काय को अपून है ना चलो ढूंढो तेरे पंटर को हाथ से फिक्र मत करो हमें कुछ नहीं होगा प्लीज मुझे सीधा करो उल्टी आ रही है देखा तो हमें नीचे उतार रहे हैं नहीं मुझे अभी तो बच्चों की शादी भी करवानी है ओ ये नाक है कि काली गुफा लुका छुपी खेलने की अच्छी जगह है बात कर सकते हैं परिवार में अनबन तो होती रहती है मैं उन्हें संडे और ट्यूसडे ले जा सकता हूँ वेनसडे या फ्राइडे सैटरडे कोई बात नहीं मम्मी ठीक है ओ, अगर तुमने मुझे खाया तो बच्चे के दिमाग पर असर पड़ेगा तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं बच्चे सुधर गए लेकिन माँ नहीं सुधरी तुम्हें लगता है वो शैतान सिर को ढूंढ लेगा कहीं उसने हमें ढूंढ लिया तो रूढ़ी सिर्फ ढूंढेगा वो जालिम है वो सब जानता है सब देखता है सब खाता है यानी जवाब हाँ है आ... ए, चल कल्टी हो यहां से चल फूट ले हट बे अबुन उसको तब से जानता जब से दूध पीता था जानता है दूध पीना भी अबुन सिखाया इसको तो तुम यहाँ इस घने खतरनाक जंगल में रहते हो वो भी बिल्कुल अकेले बिना कोई जिम्मेदारी के और क्या बिड़ू बस जिंदगी अब उनका ना जिम्मेदारी ना जवाब देने का एक कुरा ही ऐसी लवंडर गिरी कर सकता ना सुना तुमने ये जगह बिल्कुल मेरे लायक है हेलो नहीं अभी अब तुमसे बात नहीं कर सकता है समझ गया पर अब उनको एक मुर्दे को जिंदा करने का है <laughs> अरे वो अपुन का पीछा करे लाए हाँ देखो ना वो सोचता अपुन खिसके लाए <laughs> ठीक है ठीक है अभी अब उनको मौत की खाड़ी में घुसने का है उधर तुम्हारा सिग्नल नहीं मिलेगा हाँ I love you I love you I love you love you love you निपटा लिया चलो अब उनके पीछे यहाँ रहोगे तो इसके जैसा हाल होगा मौत की खाई क्यों बुलाते हो वैसे अबून इसका नाम कचरे की खाड़ी भी सोचा था पर नाम से ही बास आने लगी इसे पार कैसे करें पहले आप मैडम ओए सर्किट ये उसमें नहीं जाने वाली बस बस बस बस बस भूल गए rule number one rule one चलो भाव मत खाओ अपन जानता है तुम्हारा भेजा तेज है हमेशा बक की सुनो तो आंखें आगे कमर सीधी और हाँ अगर जहरीली गैस ली तो सीधा लुढ़क जाओगे जहरीली गैस अगर स्वर कहीं है तो यही है रुको चैन खुलेगी एली तुम ठीक हो तुम भी करो चलो सब लोग कतार में खड़े हो जाओ एकदम मक्खन माफिक है घबराने का नहीं कभी कभी छोटे मोटे कपले होते रहते हैं ओए खोते हो सांस ना लेना मैं और नहीं कर सकता तो चलो थोड़ा सा प्राणायाम करके देखें पागल हो गए हो क्या ये जहरीला नहीं है हंसना बंद करो दांत मत दिखाओ हंसना बंद करो दांत मत दिखाओ वो बस हंसी तो रहे हैं उसमें क्या बुराई है वाह देखो जो हंस हंस के लुढ़क गए हाँ? हंसना बंद करो जानते हो सबसे मजेदार बात क्या है हम सिड को बचाने जा रहे हैं और और अब हम मरने के लिए तैयार हैं <laughs> मुझे भी नहीं सिर पे धक्के अबे चुप दिखता नहीं तुम सब मरने वाले हम्म, औरतों को ही सब करना पड़ता है, है ना तुमने कुछ न सुना हो एली ओ मैंने तो सब सुन लिया अच्छा ठीक है तुम मेरा बिस्तर गीला करते हो हाँ तो सुबह धोबी तो देता हूँ चलो आ, हमें आगे बढ़ना होगा हम कुछ भूल नहीं रहे हैं खाने का वक्त हो गया सब्जी वब्जी क्या सब्जी और बच्चों की पत्ती नहीं है ऐसा करोगे तो कैसे बनोगे बड़े तगड़े डायनासोर नहीं आ, आ, मेरे बच्चे शुद्ध शाकाहारी है इसे सेहत बनी रहती है जरा मुझे तो देख लो मैं अभी भी इन तीनों का छोटा भाई लगता हूँ मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है ये हमारे लिए नहीं है बच्चों इसमें बहुत ज्यादा मांस है और पंख है और जिंदा भी है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हम जिंदा जानवरों को नहीं खाते सुना चलो उड़ जाओ नील गगन में अब तुम बिल्कुल आजाद हो कुछ वक्त के लिए कहा जा रहे हो इस तरह बातों को सुलझाया जाता है इसीलिए तुम अब तक अकेली हो अरे सुनो तो मैं से बात नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा वो शाकाहारी है तुमने कहा हाँ। मैंने कहा हम बात कर सकते हैं तुमने कहा हाँ। ये भी कोई बातचीत करने का तरीका है देखा हर चीज के लिए एक ही जवाब है तुम किससे डर रहे हो तुम तो पूरी दुनिया को डराते हो है ना ए, आ, वाओ, हे, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ पण रात्री को जास्त खतरा है और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਵੀ ਤੇ ਸਾਲਾ ਖੋਤਾ ਹੈ क्या आयला म्हणजे भाग वो तो सटकेला है नहीं मैं बिल्कुल सटकेला नहीं हाँ इनके पाँव में गोंदू शट अप तुम ही शट अप अबे चिंदी अपुन को शट अप बोलता है अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं चल फुट लगता है इसको चढ़ गई है अपुन को भेजेगा हमें आगे नहीं बढ़ना है क्या ना ताकि हम रोटी के लिए रात का खाना बन जाए तुम ही पागल बाबू मुझा है तुम सब लोग फैल जाओ आप उन यहीं रुकेंगे अभी बोलो किसको भूख लगी है अमर बक भाई बोलता है तो बोलने का नहीं तो ये बात थी अब उनके आगे वो और पीछे दीवार थी यानी कि टेंशन और टेंशन इतनी कि बोले तो पसीना छूट जाए अब उन उस बड़े सफेद शैतान की आंखों में घूर रहा था गए थे एंड तक ऐसा लगा पर अपुन बच गया हाँ। फेंकू चंद जानता है अपुन बाल बाल बचा था और अपुन का हाथ पैर वो भी बच गया था इससे पहले के रूडी अपुन को पेट में खटका था अपुन उस गुलाबी चीज को पकड़ लिया जो गले में लटकती चटकती है अपुन उसे पकड़ लिया और झूलने लगा पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे तब तक जब तक अमर उसके जबड़े से बाहर नहीं निकल गया उस दिन अपुन का एक आग कुर्बान हो गया पर अपुन को मिला ये रूडी का दांत वाह वो लोग कहते ना अगर दांत आ जाए हाथ तो नाक की क्या औकात समझ में आई बात वैसे एक पुरानी कहावत है बाबा आदम के जमाने की तुम एक सुपर वीजल हो ultra weasel diesel weasel back back back back boom boom boom boom boom क्या ये वाकई है और अब अब तुमको वो कहानी बताता है जब अपन एक गोली को दांत से आधा आधा कर दिया और दो डायनासोर गए जी मास्टर ओए ओए बंद ना होने वाले टेप रिकॉर्डर इतनी टेप काफी है अब चलो एली तुम्हें आराम करना चाहिए काफी मजेदार हो तुम ठीक है तुम लोग अपना शरू डाउन कर लो अब उन नजर रखता है फिक्र मत करो बक हम है ना रात को हम चमगादड़ बन जाते हैं बेड़ो हम है रात का राजा बहुत जल्द मिलेंगे रोडी नहीं तो मुझे भी आ रही है अच्छे से सोना बच्चों कल बहुत कुछ करना है खाना ढूंढना शिकार करना दोस्तों को याद करना जिन्हें शायद मेरी याद नहीं आ रही Manny? Crash! Eddie? Manny? क्या हुआ तुम अभी तक जाग रहे हो माफ करना मैं तो बस तुम्हें महफूज रखना चाहता था पर अब तुम दुनिया के सबसे खतरनाक जगह में हो है ये तुम्हारी गलती नहीं है ये किसी की गलती नहीं है हमें सिट को लाना होगा हाँ पर अगर मैं एक अच्छा दोस्त होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती अच्छा दोस्त अरे काहे दिमाग का दही कर रहे हो तुमने खुद को खतरे में डाला अपनी पत्नी अपने बच्चे को खतरे में डाला अपने दोस्त की खातिर एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप तो नहीं है पर दोस्त तो कमाल का है Oh! जाओ सब लोग यहाँ कुछ बू आ रही है हम्म लगता है जैसे किसी ने प्याज को काट कर लसन और सड़े हुए अंडे का तड़का लगा दिया है वो सिर है पंटर लोग यहाँ जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है झगड़ा वो भी तगड़ा आधा खाया हुआ कंकाल गिरा हुआ पेड़ ओह नहीं ब्रोकली शायद यहाँ कुछ ऐसा हुआ डायनासोर का सिर पर हमला सिर ने ब्रोकली का टुकड़ा लेकर उस पर हमला किया जिससे डायनासोर सब्जी बन गया पागल हो गए हो क्या सिड लड़ता नहीं है और ना ही उसके पास दिमाग है हाँ और वो डायनासोर है कहा ठीक है ठीक है गलती हुई हो गई दूसरी स्टोरी सिड ब्रोकली खा रहा है डायनासोर सिड को खा गया डायनासोर ने ब्रोकली पर पैर रखा और ब्रोकली का सलाद बन गया बक तुम पैदाइशी बेवकूफ हो या हम्म तीन महीने से एक दिन अपन उठा और अपन ने देखा कि अपन का शादी पाइन से हो गया कांटो वाले पाइन से पर क्या है कि अपन उसे लव करता है बक लगता है तुमने यहां इस चीज को नहीं देखा हो सकता है तुम्हारे दोस्त की सासें चल रही हूं पर पता नहीं कब तक रूडी आ रहा है बिल्कुल ठीक मुसीबत का प्याला पंटर लोग चलो निकलो नहीं तो चड्डी में फूल खिल जाएगा Okay. पीछे एक लाइन में रहना आप उनको वो लावा वाले झरने पे जाना है वो आवाज कैसी थी वो हवा है वो अपन से बात कर रही है क्या कह रही है अपन को क्या पता वो अपन के पल्ले नहीं पड़ती ठीक हूँ ओलंपिक में दौड़ रहे हो क्या तुम लोग ये जगह इतनी बुरी तो नहीं है बढ़िया मौसम अच्छी पड़ोसी आ! आ! कैसे हो पड़ोसी रूडी रूडी ये डायनासोर की आवाज को क्या हुआ ये सिड की आवाज है तो जल्दी कराओ पाइन एप्पल शायद उसे भूख लगी है अनार अंगूर आम लगता है उसे फ्रूट सैलड चाहिए एली जल्दी सोच क्या था लीची लीची लीची हमारा बेबी क्या क्या क्या अभी ये ठीक नहीं है तुम लोगों ने सुना क्योंकि कई बार मेरे कान ऐसे ही बजने लगते हैं पर इस बार मैंने सुना उसको बोलो इतना घाई क्या है कोई उसे लगाओ एक कान के नीचे आओ काम हो गया आ, तुम बस वहीं रुको हम आ रहे हैं अब उल्टा दिमाग चलाना पड़ेगा अब थके अच्छा लो अब उनके साथ चलो मैं नहीं तुम वैली का ख्याल रखो अब उन ठिकाने लगा कर आते नहीं तुम अभी नहीं जा सकते वो उसकी हालत खराब है रूल नंबर दो का क्या होगा रूल नंबर पाँच कहता है की रूल नंबर दो को साइड में रखने का जब किसी औरत का इमरजेंसी हो तो या फिर किसी प्यारे से कुत्ते का जानता अब उन हस्से ऐसी कट जाए रस्ते ये रूल बनाता है हाँ, पर, पर, पर वो तुम हमें अकेला नहीं कुछ नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ये हुई ना मर्दों वाली बात चलो चंपुओं हमारी बहन का ख्याल रखना समझो ने जल्दी मिलेंगे बिड़ू कुछ भी बोलता है बहन का ख्याल रखना ओ बहन है तो ख्याल रखेगा ही ना पर बहन है किसका उसका या तुम्हारा हमें आगे बढ़ना होगा ठीक है घबराओ मत सब ठीक हो जाएगा डैडी डैडी आ रहे हैं बेटा एक बात तो है मेरे बच्चे तुमने भी सही वक्त चुना आने के लिए तो सिर्फ लावा है खतरनाक होता लावा क्या तुम लाइफ में कुछ करना मांगता है जी सर खतरों से खेलना मांगता है जी सर मौत से लड़ना मांगता है सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कूदो पास पहुंचना है सुनो मैं एली को बचाता हूँ तुम जाके इन्हें संभालो पर मैं नहीं अगर वो एली के पास पहुंच गए तो बहुत देर हो जाएगी प्लीज भरोसा रखो मुझ पर ठीक है जैसा तुम कहो जाते हैं कहाँ कहाँ से पकड़ना आता नहीं यहाँ से सीधा ऊपर भेज दूंगा टिकी टो टिकी ये मोड़ने की तरह ताथैया बंद करो मेरा बेबी आ रहा है ओह सॉरी तुम ठीक हो तुम्हें मैं ठीक लग रही हूँ तुम्हें बच्चा पैदा करने के बारे में कुछ पता है नहीं कुछ खास नहीं और मैं नहीं आ रहा है ना वो डिएगो डर लग रहा है तुम्हारा पैर पकड़ सकती हूँ हाँ हाँ बिल्कुल इस दर्द को सहन कर लो हाँ। अपने आप सब ठीक हो जाएगा नहीं, देखो वो रहा राजा नहीं वो सिर है बताए राजा क्यों ना पहले हम सिर को बचाए रॉजर के बारे में बाद में सोचेंगे आ, हाँ, अंग्रेजी पिक्चर नहीं देखता क्या हाँ। ये सबसे जरूरी चीज है हाँ। क्या आया मुझे तो यमराज दिखाई दे रहा है तुम मेरे दिल के टुकड़े हो मेरे भाई तुम भी अबे होश में आ कुंभकर्ण की औलाद ऊपर खींचो और अब मैं किसी को डराना नहीं चाहता पर इस उड़न खटोले को तो कौन उड़ा रहा है अबे! हाँ। जाओ दोस्त अब ज्यादा वक्त नहीं है खूबसूरत है मुझे लगता है हमें इसका नाम रखना चाहिए एली नन्ही एली मेरे पास उससे अच्छा नाम है लीची लीची हाँ क्यों नहीं ये मीठी और गोल है और बालों से ढकी हुई लीची बहुत बढ़िया है मैंने वो देख लिया बहादुर शेर नहीं नहीं वो डायनो ने मेरी आंख पर अपना पंजा मार दिया था और इसीलिए ठीक है मैं कोई पत्थर दिल तो नहीं हूँ अरे ये तो है ओ लड़का हुआ है वो इसकी पूंछ है ना बच्ची मैं चाचा हूँ हाँ मुझे देखो अरे तुम कितनी खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत बिल्कुल अपनी माँ पर गई है अच्छा हुआ बाप पर नहीं गए ओ बुरा मत मानना मैंने बुरा मत मानना तुम देख के खूबसूरत हो तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है सेठ वैसे तो मैं फिल्मी डायलॉग देता नहीं पर तुम्हारी बहुत याद है दोस्त ओ काश मेरी बच्ची भी यहाँ होती तुम साथ खेल सकते थे बापुन ने खुद से ना रोने का वादा किया था पर मुझे मत रोकना उन तो भूल ही गया था कि एक परिवार कैसा होता है वैसे तुम बताओ तुमको मां बनने का शौक है हम्म, चलो बंटर लोग घर जाने का टाइम हो गया अपन वहीं पहुंच गए पंटर लोग जहां से अपन चले थे पैसा वसूल हो गया पर अगली बार पेट में बच्चा लेके मत निकलना <laughs> मैं इसके बारे में क्या कहूँ हाँ बरोबर वैसे ही सब इधर औरत लोग का चलता किधर है <laughs> बहुत हो गई बातें बक का सफर यहाँ खत्म हुआ हम ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाते दोस्त हाँ वो तो है पर तुम लोगों के साथ टाइम का तो अपन लोग अकेले नहीं है हाँ? कैसी हो रूडी अबे अबून इधर है अंधे डायनासोर अपना ये दांत ढूंढ रहा है लाल लगाम तो आकर लेता क्यों नहीं तुम लोग गुफा की तरफ जाओ भागो लीची का ख्याल रखना हमारी फिक्र मत करो तुम जाओ हटो <laughs> हाँ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ 울어 울어 앉아 앉아 울어 디에고 밖으로 바갈리아 में डालो फिर बाहर निकालो बस एक और बार चलो मंडलो खींचो अगली बार अपने बराबर वाले से लड़ना ये कभी भी उठ सकता है जल्दी भागो रुक जाओ दोस्तों बच्चों मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ यही तुम्हारा घर है और मुझे इस बात पर यकीन है तुम बड़े होकर बहुत बड़े डरावने डायनासोर बनोगे बिल्कुल अपनी माँ की तरह और मम्मी हमारे बच्चों को सीने से लगाए रखना की सीट शुक्रिया तुम्हारी बेटी को संभाल सकता हूँ भूल जाओ ओ मान जाओ शख्स मैं काम करूंगा ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा हम्म, मस्त मैं पागल हूँ क्या वो मर गया आप अपन किसके साथ दुश्मनी करेगा परेशान क्यों हो हमारे साथ चलो तुम्हारा मतलब वहां ऊपर अपन ने कभी वापस जाने का सोचा ही नहीं अब उनको अकेले इतना वक्त हो गया कि पता नहीं झुंड में रहना कैसा लगेगा अब उन्हें यह भी नहीं जानता कि उधर खुश रह पाएगा कि नहीं तो क्या हमें देखो बाग क्या हम तुम्हें खुशहाल छोड़ नहीं लगते खतरे से खाली नहीं चलो लीची वो जिंदा है बक अपन अपन को जाना है हाँ बात यह कि अपुन गया तो डायनासोर दुश्मनी किससे करेगा दोस्त लोग का ख्याल रखना टाइगर हमेशा बक की सुनो हम जल्दी घर पहुंचेंगे सब लोग ठीक है ना बाग कहा है फिक्र मत करो वो वही है जहां उसे होना चाहिए वो वहां पर ठीक रहेगा क्या मजाक कर रहे हो अरे बाग का कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता मुझे तो रूडी की फिक्र है मैं जानता हूँ मेरी बच्ची तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती ठीक है तुम जो चाहो वो फैसला कर सकते हो मैं नहीं जा रहा हूँ यार मुझे रास्ता चुनना था ना तो मैंने चुन लिया पर यार मैंने तो पूरा भाषण तैयार किया था याद तक कर चुका हूँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तगड़ा होने के साथ साथ नरम दिल भी हूँ मोटा पर दिल का सच्चा आओ शुक्रिया <laughs> हाँ बच्चे कितनी जल्दी बड़े होते हैं ना मेरा मतलब मेरे बच्चे को देखो वो मेरे सामने अंडे से निकले थे और दूसरे दिन चले भी गए सही कहा सेठ हाँ काफी मेहनत करनी पड़ती है में तुम्हारा स्वागत है Boom, boom, acalaca, laca, boom, boom, boom, acalaca, boom, boom. It was a night.